और इनसे पहले लोगों ने भी पैगंबरों को झुठलाया था और ये अरब के मुशरिकिन तो उस साजो सामान के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे हैं जो हमने उन पहले लोगों को दे रखा था फिर भी उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुठलाया तो देख लो कि मेरी दी हुई सजा कैसी सख्त थी